फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियाँ और चूहे और मेंढक और खून जो अलग अलग निशानियाँ थी फिर भी उन्होंने तकबर ही किया और वह मुजरिम लोग थे